गुरबद सुन के हो का कम से नबी दजाया पींगे तू बहर आया जने आजमी ते अफलाग गो हलाया हम शेर को रुआ तेजा तू आक के मजलूम कर बला तू जैसे आ गया है आता अस असर दीपक मातू असर तड़पे दा कहीं दो नहीं लाल आया हर कहीं आग और बाद सुन के हो का कम से नबी दगाया पींगे तुम बहर आया